ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितम ये न तस्मय श्री नम क्या प्रोग्राम के संबंध में जानना चाहिए प्रोग्राम का मतलब चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है पृथ्वी से आचे जौथल आगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई गई मौना चैतन्य महाप्रभु पांच सौ वर्ष के पहले मायापुर जो नवदीप के पास पश्चिम बंगाल में अभिभूत हुए थे कहा पे नवदीप नवदीप मायापुर में ना मायापुर और चैतन्य महाप्रभु बोले कि उनका नाम प्रचार पूरी पृथ्वी में प्रसारित हुआ तो वो भविष्य वाणी पूर्ण करने के लिए हम चैतन्य महाप्रभु का प्रचार जो भगवद गीता का प्रचार जगह जगह भ्रमण करके परिवेशन करते हैं ये हमारा प्रयास है यहाँ का विकास जो मुंबई है यहाँ भी भगवद गीता का प्रचार कार्यक्रम है हरे राम हरे कृष्ण है किस प्रकार किस प्रकार हरे कृष्ण आपको नहीं मालूम हरे कृष्ण महामंत्र क्या है ये महामंत्र पता है हाँ, हाँ तो इसमें तो हिंदू हो सकते हैं या सभी धर्म के लोग हो सकते हैं या सनातन नहीं लेकिन विधाता एक है ना तो विधाता क्या मुसलमान है या क्रिश्चियन है या हिंदू है नहीं ये सब विभाजन मानवीय है हमें सृष्टि की और वास्तव में ये हिंदू शब्द है आधुनिक शब्द तो कोई शास्त्र में नहीं तो सत्य क्या इसको मालूम होना चाहिए कोई कोई बोलते हैं गॉड अल्लाह भगवान ये सब लेकिन सत्य क्या है परम सत्य क्या है तो विधाता एक है परमेश्वर एक है तो हम इसी प्रचार करते कि ये ये विधाता है कृष्ण उनका नाम है कृष्ण तो अगर कोई गॉड बोलते है उसमें छुट्टी नहीं है लेकिन क्या है कि ये विधाता गॉड भगवान ईश्वर अल्लाह तो उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए हमसे क्या चाहते हैं हमारा क्या संबंध है उनके पास तो इसलिए हम कृष्ण बोलते हैं क्योंकि कृष्ण के बारे में बहुत अनुसंधान मिलते हैं वेद शास्त्र में कुरान शास्त्र में बहुत गलत फहमी भी होती है भगवान कृष्ण के बारे में तो वो सब सुधार करने के लिए हमारा प्रयास है लेकिन क्या है अगर हम बोलते कि हमारा संबंध है विधाता के साथ तो वो क्या संबंध है जो प्रेम संबंध होना चाहिए तो खाली डर से ईश्वर को मानना तो वो परम ध्यान नहीं तो प्रेम होना चाहिए तो जिससे प्रेम होगा तो कुछ ज्ञान होना चाहिए जैसे कि आप एक व्यक्ति है तो आप कौन है क्या करते हैं क्या क्या पसंद है और खाना का क्या पसंद है और तो किस शैली व्यक्ति है अगर मुझे कुछ भी नहीं मालूम तो कैसे आपको प्रेम कर सकते तो खाली आपका मतलब आपका नाम है पीपल है तो उस खाली नाम है तो अगर हम खाली नाम जानते हैं तो हम कैसे प्रेम कर सकते तो सब कुछ मालूम होना चाहिए तो परमेश्वर है समस्त काल कल्याण गुण युक्त है वे परम सुंदर है परम दयाल है परम प्रेमिक है तो उनकी गुणों से हमारा प्रेमाकर्षण इसलिए उनका नाम है कृष्ण कृष्ण का मतलब जो सबको आकर्षण देते हैं तो अगर गॉड अल्लाह ये सब बोलते हैं तो छुट्टी नहीं है लेकिन पूर्ण ज्ञान में समझना चाहिए कि वो गॉड है कृष्ण गॉड बोलना है इसका मतलब जैसे आप संभा देखेंगे तो ये आपका पोजीशन है आपकी पैशन तो गॉड वो कृष्ण की पैशा है और आपका शुभ नाम नहीं संजय कुमार पांडे संजय कुमार पांडे तो संजय मतलब दुनिया में बहुत संवादिक है क्या बोलते हैं हिंदी में रिपोर्टर रिपोर्टर संवादिक actually means editor in Bengali they say तो संजय कुमार पांडे जो मेदिनी नागर निवासी है जो रिपोर्टर है तो खाली एक व्यक्ति तो गॉड हम बोल सकते तो गॉड ठीक है गॉड है वो उनका पोजीशन आपका पोजीशन है रिपोर्ट लेकिन आपका यही नाम है आपका यही आकार है आपका चेहरा ऐसे है आप खाना क्या पर्सन क्या है चपाती पर्सन छात ये रिपोर्टर तो ज्यादा पर्सन और छात खाते हैं सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला चाय तो ये आपका पसंद है तो ठीक है आप पैसे दिए आपका नाम है और आपका व्यक्तिगत चरित्र वैसे ही है वो आपका सभी लक्षण लक्षण करवाना तो ऐसे ही भगवान परम व्यक्ति तो खाली शक्ति नहीं है तो शक्ति मांग भी है और उनके यही सभी लक्षण है उनका चेहरा वैसे है मुरली बाजा ही श्याम सुंदर गोपी कांत है राधा कांत है यशोदा नंदन नंद नंदन वही परम व्यक्ति उनका नाम है कृष्ण और उनका असंख्या दिव्य गुरु है और वो कृष्णा तो राम के रूप में आते हैं परसों रामनवमी और मत्स्य कर्म बराह नरसिंह ये सभी रूप में आते हैं विष्णु आते हैं आशा है आप सब जानते हैं मुझे मालूम नहीं क्योंकि आधुनिक भारत में तो लोग कृष्ण से तेंदुलकर के बारे में ज्यादा जानते नहीं इसके बावजूद राम और भगवान कृष्ण को जानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है अभी तक ये झारखंड में थोड़े से लोग हैं हाँ। जो तेंदुलकर और धोनी को जानते हैं बॉम्बे दिल्ली में वो विपरीत आप जिस संस्था धर्म है वहाँ वो धर्म है क्रिकेट और फिल्म धर्म वो धर्म हम्म। था बड़े महाराज आप जिस संस्था के तहत इसका मैंने भगवान का प्रचार कर रहे हैं इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ है कितनी शाखा है तो पूरे दुनिया में तो मतलब शाखा है उप शाखा है तो स्थापित मंदिर दुनिया में तो कितना होगा आठ सौ आठ सौ मंदिर कैसे छोटे बड़ों और शाह का बहुत बहुत और मतलब का प्रचार केंद्र आप हाँ, प्रभु की संख्या कितनी हुई दीक्षित भक्त तो वो लाख के ज्यादा हो लेकिन हम जब जैसी दीक्षा नहीं लेते तो दीक्षा लेने के लिए जो कुछ शर्त है तो मांसाहा वर्जित है सब प्रकार नशा सब बना है नशा मतलब ठीक कॉफी तक थोड़ा खड़ा क्योंकि भगवान शुद्ध अति शुद्ध है और भगवान की सेवा करने के लिए तो चरित्र भी शुद्ध होना चाहिए तो ऐसे ही कुछ नियम और समर्थक मित्र संगी लाख लाख नगर में भी शाखा खोलने का विचार है इच्छा है लेकिन लगते इतना जल्दी नहीं हो क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो सब नियम अच्छी तरह पालन करते हैं और अच्छी तरह यही सूक्ष्म वैष्णव दर्शन तत्व ज्ञान यह क्यों कर सकते तो ऐसे व्यक्ति कम है क्योंकि ऐसे ऐसे तो प्रशिक्षण देना चाहिए वो आदमी को पक्का बनाने के लिए एक समय लगता है तो है कुछ तो केशवानंद है डॉक्टर केशवानंद कभी कभी यहाँ आते हैं हरे कृष्ण सबको अभी तुरंत आया है अभी नहीं कर पाना अभी पाए हरे कृष्ण आप टीवी कौन से हैं तो प्रभात खबर से हैं वो प्रभात खबर से हैं प्रभात जी प्रभात खबर दौलतगंज से जी दौलतगंज से तो अभी चाहता हम क्या बोलते कि इसकम संक्षेप में करूंगा इसका का उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना दुनिया में पूरे दुनिया में वो ही भगवत गीता का प्रचार है विशेषकर हरि नाम प्रचार और धर्म भेद के बारे में हमें कुछ कि हम भगवान ईश्वर गौत विधाता को कृष्ण कहते हैं कृष्ण का मतलब जो सबको आकर्षण देते हैं उनके बारे में वही शास्त्र में बहुत ज्ञान मिलते हैं जो अन्य शास्त्रों में नहीं मिलते इसलिए हम विशेषकर इसी पंथा में और इसको के शाखाओं दुनिया में Говорил, что ответил Аксону Сарайсану, Убашака Бабутея, Дикшит Бхакт. I don't know actually this. Jagataka Maharaj has 18,000 disciples himself. So we don't know exactly his period. Pachis say Pachas has a lakh But of those who are active, it will be पच्चीस से पचास हजार total initiated maybe one lakh like क्योंकि दीक्षित uh, होने के लिए कुछ नियम पालन करना है जो सब तैयार नहीं है पालन करना आपको कब भगवान कृष्ण के साथ प्रेम हुआ कितने दिनों पहले अभिचार उसमें एक प्रयास करता हूँ अगर कोई बोलते है मैं प्रेमी हूँ तो लगते है वो वो व्यक्ति तो प्रेमिक नहीं है जो बोलते है वो मैं सिद्ध हूँ तो ऐसे व्यक्ति को संदेह करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के मुख्य भक्तों रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सुजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोस्वामी है वृंदावन में वास तो हे राधे देव के थे हे नंद सुन खुदा सदैव हे कृष्ण हे राधा रानी हे ललित गोपी कहा पर हो तो ऐसे भगवान को खोज करके जीवन व्यतीत किए थे वृंदावन तो यही चैतन्य महाप्रभु हाँ का प्रचार है कि भगवान को खोज करने से परम प्रेम होते अगर हम सबसे तो मेरे पास है कृष्ण प्रेम सब कुछ है तो ठीक है जैसे चश्मे तो है देख दो वो मेरे पास ही है तो हम हमेशा भगवान को खोज करते और ऐसे भगवान को मिलते अमलीबाल देव में भक्त हूँ मैंने प्रेम मिला हूँ हमारा उद्देश्य है सेवा यदि भगवान संतुष्ट हो वो हमारा जीवन की स्थिति है सेवा हमारा उद्देश्य सब बोल सकते हैं प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम लेकिन एक सेवा में देखना चाहिए मैं एक उदाहरण देता हूँ तो आप दिन भर बाहर रहते हैं काम में व्यस्त रहते हैं तो शाम को घर वापस जाते हैं तो घर प्रवेश करके अगर आपकी स्त्री आपको कहेंगे और स्वामी आपको बहुत प्रेम करता हूँ तो आप ठीक है ठीक है तो कहना है नहीं नहीं कुछ नहीं बना है लेकिन आपको बहुत प्रेम करता हूँ तो प्रेम भावना शास्त्र है लेकिन सेवा में प्रकट होते हैं और भारतीय संस्कृति में और पश्चिमी संस्कृति जैसे और स्वामी को स्त्री और स्त्री को स्वामी में तुमको प्रेम करते हो ऐसी बात नहीं होती पश्चिमी संस्कृति में पति पत्नी को तुमको प्रेम करते हो सदैव बोलते लेकिन तुमको प्रेम करते हो प्रेम करते हो प्रेम करते हो और आज तलाक है डिवोर्स बहुत प्रेम बोलते बहुत लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसे बोलना नहीं लेकिन प्रकट है कैसे सेवा के द्वारा तो ऐसे हम प्रयास करते भगवान की सेवा करते होगी प्रेम का लक्षण भावना का जरूर पानी खा पे और पानी तो कल शाम को शाम को क्या शाम को पाँच बजे आपके कार्यक्रम हरे कृष्ण हरे कृष्ण